द्वितीय अध्याय के द्वितीय मंत्र का कुछ विचार हो गया आगे तृतीय मंत्र है तो पूर्व मंत्र में अंत में कहा था सर्वाणी ये सबके सब ये इसी नाम ध्यान भवंती कहा था सर्वाणी वेतानी प्रज्ञान से नाम ध्यान भवंती पूर्व मंत्र का अंत में था सबके सब जितने भी बताया दिया ये सब जितने भी नाम बताए गए उस प्रज्ञान नामक परमात्मा का नाम है गौण नाम है गुणजनित नाम है ऐसे कहा था आगे मंत्र है ये स ब्रह्मा ये स इंद्र ये स प्रजापति सर्वे देव पंचभू महाभूतानि पृथ्वीवायुराकाशापो ज्योतिषी इत्येतानिमानि च क्षुद्रा क्षुद्रविस्त्राणि व बीजा इतरा चेतरा कांडजा चारुजा चेदजा चोच वेदजानि चोद्भु पुरुषास्तिनो यत्किञ्चैदम् प्राणी गन्धमम् च पतत्री च यत्तस्थावरम् सर्वम् तत्प्रज्ञानेत्रम् प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् प्रज्ञाने प्रोलोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम् ब्रह्म एष ब्रह्मा एष इन्द्रः एष प्रजापति ये सर्वे देवा इमानि च पञ्चमहाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिंषि इत्येतानि न इमानि इमानि च क्षुद्रमिस्त्राणि बीजानि इतराणि चेतराणि चाण्डजानि चारुजानी च श्वेतजानी उर्वीदजानी चास्वागाव पुरुषः हस्तिनो यत्किञ्च प्राणी जंगम च पतत्री चावर यक्तस्थावरम् सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम् प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् प्रज्ञाननेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म ये सब ब्रह्म पूर्वोक्त जो आत्मा है यही ब्रह्म है ब्रह्म माने अपर ब्रह्म ऐसा कहा हिरण्यगर में यही है ऐसे प्रज्ञान स्वरूप जो आत्मा के रूप में कहा था सर्वाणी एता प्रज्ञान नाम प्रज्ञान से नाम भगवती कहा था जो प्रज्ञान शब्द से कहा उसको यह तो शब्द ऐसा शब्द से लेना यही ब्रह्म है हिरण्य गर्भ यही है ऐसा इंद्र यही इंद्र भी है ऐसा प्रजापति प्रजापति माने विराट भी यही है एक सर्वे देवा जो अग्नि आदि देवता जितने भी बताए गए सब यही है मान हाँ, इसी में कल्पित है सारे क्यों सृष्टि के पूर्व में आत्मा पर इदमग्र एक अग्रह आशित था वही सब कुछ अभिवर्तवाद है सब यही है जो भी रज्जु में दिखता है सब रज्जु ही है रज्जु के सर पर कल्पना करें जो भी कल्पना करें जलधारा आदि रज्जु ही है ऐसा ये स ब्रह्म ये स इंद्र ये स प्रजापति ये ते सर्वे देवा इमानी जो पंच महाभूतानी पंचभूत भी यही है ये पंचभूत भी यही है पृथ्वी वायु आकाश आप ज्योति उसे पंचभूतों का नाम लिया है पृथ्वी है वायु है आकाश है जल है ज्योतिष मान ज्योतिष माने तेज इत्यादि ज्योतिष आदि इति एतानी इमानी जो क्षुद्र मिश्राणी और ये अन्य जो है छोटे छोटे जंतु चिटी आदि लेकर के जितने भी हैं क्षेत्र बीजानी जो बीज है आगे के लिए बीज बनते हैं इतराणी च इतराणी च अन्य अन्य भी जितने भी पैदा हुए हैं सब अंड अंडयानी झाड़ू जानी च चार प्रकार के प्राणी उत्पन्न मानते हैं अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज चार प्रकार से प्राणी की उत्पत्ति है या तो अंडा फोड़ के निकलना है या जेर जेर से निकलना है जरायु से निकलना है या गर्मी से निकलना है या भेदन करके पृथ्वी आदि को भेदन करके निकलना है तो इतराणी च जानी च अन्न जानी अन्नजानी जानी और श्वेत जानी गर्मी से उत्पन्न होने वाले तो जानी चाह और फिर धरती को फोड़ कर निकलने वाले लता गुलवादी जितने भी हैं सब तो, और अश्व गाद घोड़े कहते हैं गाय कहते हैं पुरुषाह बोलते हैं मनुष्य आदि बोलते हैं ना हस्ती बोलते हैं हाथिया बोलते हैं यथकिंच इदम जो कुछ भी ये सामने है ये यथकिंच इदम प्राणी जितने भी प्राणी वर्ग जितने भी संसार में है जंगमम च पतरे दो ही में होते हैं एक तो जंगम चलने वाले होते हैं एक पतत्री उड़ने वाले होते हैं और एक थावर होते हैं तीन प्रकार के एक पैदल चलने वाले हैं एक उड़ने वाले हैं पक्षी आदि और एक थावर स्थिर रहने वाले तीन प्रकार के विभक्त है प्राणी जो भी प्राणी है जंगमम च पतत्री च तीन प्रकार से देखे जा पाए जाते हैं एक तो चलने वाले मनुष्य है गो आदि पशु आदि हैं चलने वाले और एक उड़ने वाले होते हैं पक्षी आदि पतत्री और एक स्थावर वृक्ष आदि हैं ये सब सर्वम सबके सब जितने भी हैं ये तीन भाग में विभुक्त दिखाई पड़ते हैं जंगम पतत्री स्थावर तत्प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञा नेत्र नेत्रम ऐसा ते प्रज्ञा नेत्रम यश जिसका प्रज्ञा नेत्र है माने अधिष्ठान व आत्मा है उसमें कल्पित है अधिष्ठान की सत्ता से सत्ता पाए हुए हैं सारे अधिष्ठान निकाले तो कुछ भी नहीं है रज्जु में जो सर्प भाजता है रज्जु हटाएंगे तो सर्प नाम की वस्तु नहीं होता अधिष्ठान की सत्ता से सत्ता युक्त है और स्फूरण से स्फूरण युक्त है जगत अस्थि ऐसा बोला जा रहा है जगत भांति ऐसा बोलता है हाँ, वो अस्थि और भांति उस प्रज्ञान का है उसी के प्रज्ञा नेत्र वाला है प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम उत्पत्ति काल में प्रज्ञान में ही ये उत्पन्न हुए हैं जैसे रज्जु में सर्प उत्पन्न होना है तो सारे के सारे संसार उसी में उत्पन्न है माने विवर्तवाद है और प्रज्ञान नेत्रो लोग कहा ये स्थिति काल में भी प्रज्ञान ही आश्रित है और प्रज्ञा प्रतिष्ठा अंतिम में प्रलय भी इनका प्रज्ञा में ही होनी है रज्जु में जो सर्प दिखता है उत्पन्न भी रज्जु में होना है स्थिति भी रज्जु के सत्ता से ही है और लय भी रज्जु में होना कहा जाता है वो सर्प रज्जु में लीन हो गया ये मानना पड़ता है इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म एका ये महावाक्य है चार वेद के वाक्य में एक महावाक्य है स्वरूप बोधक वाक्य है दो वाक्य तो अनुभवात्मक होते हैं दो एक उपदेशात्मक होता है अहम ब्रह्मास्म अनुभवात्मक है दो स्वरूप बोधात्मक है अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप का बोध कराने वाला तत्वमसी जो है उपदेशात्मक है तो प्रज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा कहा जो प्रकृष्ट ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहा हुआ है वही प्रज्ञान जो है वही ब्रह्म है ऐसा कहा टिप्पणी है आगे भाष्य टीका से स्पष्ट हो जाएगा एक नंबर टिप्पणी में कहा इधम यदि प्रत्यक्षादि गोचरी हूं तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय जो बन रहे हैं खाली प्रत्यक्ष प्रमाण में अनुमान उपमान शब्द जो भी जितने प्रमाण चलते हैं वेदांत में छह प्रमाण लेके मानते हैं जो भी प्रमाण का विषय बना है संसार में यदकिंच करके जो कहा ये कहते हैं प्रत्यक्षादि गोचर प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय भूत जितने वस्तु हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि जो भी प्रमाण का विषय बना हुआ जो भी होगा सब के सब वो क्या है सब प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है वो प्रज्ञानी है कहा दो नंबर का तत्प्रज्ञानेत्रम माने नीयते अनेक नेत्रम नेत्र शब्द में निय निय प्रापण धातु से ट्रम प्रत्यय कर्ण कार्य में किया है दाम नि सस युजस्तु तु दस सिचम यह पत दस मह कर्ण ये सूत्र है ट्रम प्रत्यय कर्ण कार्य में नियते अनया इति नेत्रम जिसके द्वारा ले जाया जाता है इसलिए नेत्र कहते हैं ये भी एक नेत्र है इसी के माध्यम से इसको ले जाया जाता है ये न हो तो इसको चलाना मुश्किल पड़ेगा ये चक्षु के माध्यम से इसको ले जाया जाता है इसलिए इसको नेत्र कहा है अनया एक नेत्रम ऐसे व्युत्पत्ति है नेत्र शब्द की यहां भी यही जो प्रज्ञान है इसके द्वारा ये सब लिया जाता है व्यवहार होता है इनमें अगर अधिष्ठान न हो तो कल्पित वस्तु के व्यवहार हो नहीं पाता वो अधिष्ठान है प्रज्ञान इसलिए कहा प्रज्ञान नेत्रम बोला गया दो नंबर में कहते हैं नियते अनेर यदि व्युत्पत्तिया इसके द्वारा ले जाया जाता है व्युत्पत्तिया सत्ता प्रापकम प्रेरक सत्ता के प्राप्ति कराने वाला भी यही है कि जगत की सत्ता जगत में जो सत्ता अस्तित्व वासना इसी की सत्ता भाष रही है कल्पित वस्तु में जो सत्ता भाषती है अधिष्ठान सत्ता सर को अस्थि बोलते हैं कब बोलते हैं वो रज्जु की सत्ता है सर्वनाम की वस्तु में क्या सत्ता होनी उसकी सर्पो अस्थि सर्प है ऐसा बोलते हैं ना काल में तो वो रज्जु की सत्ता है और सर्पो भाती दिखता है बोलते हैं तो रज्जु दिख रही है उसी की देखना वहां दिख रहा है ऐसा होता है ये कहते हैं टिप्पणी का नियते नहीं की व्युत्पत्तियां नियते नहीं की नियत्र नेत्र का अर्थ ही होता है माने प्राप्त किया जाता है इसके द्वारा तो सत्ता प्रापकम प्रेरकम चाह सत्ता का प्रापक है और उनके प्रेरक भी यही है कल्पित वस्तु का प्रेरक यही होता है इसी के सामने जैसे उनका व्यवहार होता है अच्छा, इति नेत्र नेत्र का अर्थ ही किया है प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञा ही नेत्र है तीन नंबर का अनिन उत्पत्ति अधिष्ठान तो मुक्तम कहते हैं ने प्रतिष्ठितम तीन नंबर कहा यह सारा संसार किसमें प्रतिष्ठित है प्रज्ञान यानी उत्पत्ति का अधिष्ठान कारण यही है जगत उत्पत्ति का अधिष्ठान बताया प्रज्ञान ये प्रतिष्ठितम शब्द के द्वारा प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है ऐसा करके उत्पत्ति का अधिकार अधिष्ठान बताया प्रज्ञा नेत्रो लोग कहा चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं क्या कहा इसे तो कहते हैं अने स्थिति अधिष्ठान पर होता स्थिति काल में भी उसी में आश्रित है ये दिखाने के लिए प्रज्ञा नेत्रो लोग लोलक मान संसार पांच नंबर कहा अने लयाधिष्ठान होता तो प्रज्ञा प्रतिष्ठा में जो प्रतिष्ठा शब्द है प्रतिष्ठन अस्मिन प्रतिष्ठा जिसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं प्रलय में जो कल्पित वस्तु अधिष्ठान में प्रतिष्ठित होना है ये प्रतिष्ठा भी वही है माने जगत के उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कारण वही है ऐसा कहना है यही बताया ठीक है हमें देखें एवं शोधित आत्मा इस प्रकार से आत्मा जो शोधित आत्मा है तुम पदार्थ का शोधन किया ऐसा आत्मा का आत्मा प्रति शरीरम नानात्म बारहितम पहले कहते थे नैयाय के आदि लोग बोलते थे प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है नैयायिकों तो कहना ये ज्ञानाधिकरण आत्मा सदिविध जीवात्मा परमात्मा सह तत्र परमात्मा सर्वज्ञ एक एवं जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नम विभूषण विभूष कहा हुआ जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न दीपू प्रमाण वाला है कहा है तो प्रत्येक शरीर में जो आत्मा नाना तो भिन्न भिन्न आत्मा के भाष था वो समाप्त हो जाते यही कहने के लिए ये सब ब्रह्म कह गया यही है इससे अतिरिक्त है आत्मा नहीं एवं शोधित अश्य आत्मा इस प्रकार से शोधित जो आत्मा है इसका प्रति शरीरम नानात्म शरीरम सु शरीरम शरीरम प्रति प्रति शरीर अभिभाव समास है प्रति शरीर प्रत्येक शरीर में नानात्व तो अनेक आत्मा है ये सिद्ध कर रहे थे इसको रोकने के लिए ये सब ब्रह्म इत्यादि बात है ये सब ब्रह्म यही है जो कुछ है यही है आत्मा अनेक नहीं है यही है माने संसार में जो भी वस्तु पाया जाता है इससे भिन्न कुछ भी नहीं है तो प्रत्येक शरीर में आत्मा अनेक हो नहीं सकता इसके लिए उसी वाक्य की व्याख्या करते हैं कहा भाष्य में कहते हैं स ऐसा प्रज्ञान रूप आत्मा जो प्रज्ञान रूप आत्मा है सर्वाणी एतानी प्रज्ञान से नाम देयानी भवंती ऐसा आया था वह जो प्रज्ञान स्वरूप आत्मा है वो आत्मा आत्मा मैंने क्या आया ब्रह्म आत्मा ब्रह्म ऐसा ब्रह्म ब्रह्म का अर्थ अपरम अपर ब्रह्म लेना पर ब्रह्म नहीं लेना इसको पर ब्रह्म के लिए आगे कहेंगे प्रज्ञानम ब्रह्म आगे आएगा पर ब्रह्म के लिए ऐसा बोलेंगे या अभी जो आया हिरण्य का अपरम ब्रह्म शब्द का अर्थ अपरम ब्रह्म ऐसा ब्रह्मा का ना ब्रह्म माने यहाँ अपर ब्रह्म है हिरण्य गर्भ है यहाँ अभी क्यों मंत्र के अंतिम में प्रज्ञानम ब्रह्म पर ब्रह्म के लिए आएगा ये कहना चाहते हैं ब्रह्म है अपरम सर्व शरीरस्थ प्राण या अपर ब्रह्म क्या है सारे शरीर में रहने वाला प्राणात्मा है प्राण रूप आत्मा सारे शरीरों में है प्राण समष्टि प्राण है वो या दृष्टि रूप से सब सभी शरीर में बैठा है अपर ब्रह्म बैठा है ये सर्व शरीर प्राण प्रज्ञात्मा वही प्रज्ञात्मा वही है प्राण है और प्रज्ञान भी है वो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त है वो निरंजय गर्भ दो शक्ति है हमारे अंतकरण में दो शक्ति है सूक्ष्म शरीर का जो कुंज है ज्ञान शक्ति से युक्त वाला है माने पांच ज्ञान इंद्रिया और मन बुद्धि आदि माने अंतकरण ये तो ज्ञान शक्ति से युक्त है जानने वाले होते हैं और पंच प्राण और पांच कर्मेंद्रिया ये क्रिया शक्ति वाले हैं इसी का पुंज हिरण्य होता है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों शक्ति से युक्त होता है हिरण है समष्टि प्राण है वो प्राण माने सारा सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो तो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति युक्त है माने ज्ञान शक्ति माने ज्ञान इंद्रिय और अंतकरण ये जानने वाले होते हैं माने मन आदि जो होते हैं और कर्म इंद्रिय और प्राण केवल क्रिया करने वाले होते हैं दोनों का पुंज है वो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का पुंज है वो इसलिए कहा पहले प्राण बोल दिया आगे कहते हैं प्रज्ञात्मा कहते हैं वो ज्ञान स्वरूप भी है ज्ञान शक्ति से उत्तर भी है वो प्रज्ञात्मा भी हिरण्य गर्भ हाँ, यहां जो ये सब ब्रह्म में आयो वो ब्रह्म शब्द प्रज्ञात्मा अंतकरण उपाधि अनुप्रविष्ट अनुप्रविष्ट अंतकरण उपाधि में प्रविष्ट है वो समष्टि रूप में था या अंतकरण आदि में प्रविष्ट है व्यष्टि रूप में प्रविष्ट है ऐसा है वो जलभेदगत सूर्य प्रतिबिंबवत हाँ। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है जैसे अंतकरण में वह आया हुआ आया तो बिंब रूप है हिरण्य गर्भ यह प्रतिबिंब रूप है जल भेद का तो जल विशेष में पड़ने वाला भेद माने विशेष जल विशेष में जो पड़ जाता है कौन प्रतिबिंब सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य के प्रतिबिंब के समान हिरण्य गर्भ प्राण प्रज्ञात्मा यहां पर ये सब ब्रह्म का ब्रह्म शब्द का अर्थ यह है यही ब्रह्म है कहा माने प्राण प्रज्ञात्मा है मैं क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों से युक्त होने से प्रज्ञात्मा भी बोला प्राण भी बोला पूर्व मंत्र का प्रज्ञात्मा यह है प्रज्ञान प्रज्ञान रूप ब्रह्म कहा यह है ये सब एवं इंद्र इंद्र भी यही है पहले दो नंबर की टिप्पणी देखिए सब माने बुद्धिस्त बुद्धि में है वो धीरे निकल यहाँ इसलिए दूर में दिखाया स प्रत्यक्ष नहीं यह बुद्धि में स्थित है इसलिए स कहा स ये स पद से कहा तदिति तो परोक्ष विजानी अर्थात शब्द परोक्ष होता है बुद्धि में स्थित है हिरण्य गर्भ दिखता नहीं प्रत्यक्ष नहीं है ये कहा स इति स शब्द क्या है स माने बुद्धिस्त ये माने समीपतरवर्ती स माने लेना है वो हिरण्य गर्भ और ये माने प्राण रूप यहां है स ये सब वही है समीपस्थ है समीप तरवर्ती है ये समान हिरण्य गर्भा कहा अच्छा ये यही हिरण्य गर्भ है वो दूर भी है नजदीक भी है व्यक्ति रूप में यहाँ है और समष्टि रूप में वो दिखता नहीं इसलिए बुद्धि का विषय बनाया सब बोला ये कहा तीन नंबर में कहते हैं सही थी हिरण्य गर्भ कहा यह सही है इंद्र इंद्र शब्द से भी शिव कहा इदम आदर्शम ऐसा कहने से इदम्र नाम था उसका ऐसा आया था इदम अदर्शम इति ऐसा इसलिए इदंत्र होना था किंतु परोक्ष नाम पर दिया इदंत्र होता हुआ इंद्र इति आचक्षते परोक्ष प्रिया ही देवा ऐसा आया था नाम तो इदंत्र है किंतु इंद्र करके बोलते हैं क्योंकि बड़े के नाम पूरा नाम लेना नहीं होता है इसलिए इदंत्र होता हुआ उसको इंद्र शब्द से कहते हैं कहा जैसे गुरु का नाम न लेकर के उपाध्याय आदि बोल देते हैं आचार्य जी बोल देते हैं परोक्ष नाम नाम तो कुछ होगा एक विष्णु मित्र एक मित्र कुछ होगा उसका वो नाम नहीं लेते ऐसे यहां भी कहा था वही सहेव इंद्र इंद्र शब्द का अर्थ वही है तीन नंबर का ये समान हिरण्य गर्भ यही हिरण्य गर्भ इंद्र है गुणा गुण के कारण से कहा इदम आदर्शम ऐसा गुण है इसलिए उसको इंद्र बोल दिया अथवा देवराज होगा अथवा इंद्र का अर्थ मतलब देवराज वही है सारा संसार वही है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है देवराज इंद्र भी हो सकता है ऐसा इंद्र का अर्थ कहा और ऐसा प्रजापति यह प्रथम अजय शरीर ही कहा जो प्रजापति है हिरण्य का विराट सबसे पहले शरीर धारण किया थूल शरीर धारण किया थूल शरीर जिसको मिला हुआ है वो विराट है वो प्रजापति शब्द का विराट प्रजापति यह प्रथम अजह जो पहले उत्पन्न हुआ थूल शरीर के रूप में शरीर ही शरीरधारी है शरीर वाला है प्रथम शरीर वाला है शरीर द्वारा ये तो मुखादि निर्भेदन द्वारे अज्ञात लोग पाला जाते जिससे जिस विराट से जिस प्रजापति से विराट से मुखादि या निर्भिन्न होकर खंटे खंटे बन करके गोलक आ गए इंद्रियों के गोलक आ गए फिर इंद्रियादि अधिष्ठात्री देवता इंद्रिय बैठ गई अधिष्ठात्री देवता बैठ गए थे मुखम निर्भन्नम मुखाद अग्नि इत्यादि आया था मुखाद बाघ बाघा अग्नि ऐसा आया था बाचो अग्नि आया था ये तो मुखादि निर्भेद द्वारा जैसे कि मुखादि के भेदन के द्वारा मानी खट्टे खट्टे बना दिए गोलक बना दिया इसके द्वारा अग्नि आदि यो लोक पाला जाता माने मुख आदि पैदा हो गया उसमें विराट में उसके बाद में इंद्रिया आ गई इंद्रिया आने के बाद में अग्नि आदि लोकपाल देवता आ गए थे सब पैदा हुए थे वो है यहाँ प्रजापति शब्द का कहा छह नंबर की टिप्पणी में कहा यथा तो मैंने विराज सका जिस विराट के सान्निध्य से सारे उत्पन्न हुए थे मुखादि निकले गोलक निकला गोलक के बाद इंद्रिया आ गई इंद्रिया आने के बाद फिर उसका अधिष्ठात्री देवता पैदा हो गए थे ये लेना कहा आगे स प्रजापति ये एवं वो प्रजापति ये प्रजापति से इस विराट को लेना है यहाँ और ये भी एक अग्नियादय सर्वे देव और सारे के सारे अग्नियादि देवता अग्नि बाघ भूत मुखम प्राविशत आदि आया था जितने भी देवता है सब ये थे देवा ऐसा एवं यही है इससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं इसी में कल्पित है मिट्टी के जो कुछ भी बनाया गया मिट्टी ही है वो यही है तो सृष्टि आदि में आत्मा भाई इनमें अग्रह आशीन ही वाक्य है विवर्त है सारे कल्पना में आ गए आगे बना परिणाम कुछ भी नहीं आत्मा बिगड़ा नहीं जो का त्यों है बुद्धि बनी हुई देवता आदि बुद्धि ऐसा है एक ए भी एते अग्नियादय सर्वे जो अग्नियादि देवता सारे देवता हैं ऐसा एवं यही हिरण्य गर्भ रूपी है प्रज्ञान रूपी है इमानी च आगे था इमानी च भूतानी पंचमहाभूतानी जो पंचमहाभूत है पृथ्वी जल वायु आकाश आदि वायु आकाश जो भी है इमानी च सर्व शरीर उपादान भूतानी सारे शरीर जिसे बनते हैं थूल शरीर बनाने के सूक्ष्म शरीर थूल शरीर दोनों शरीरों के पंचभूत चाहिए पंचभूत के बिना कुछ होता नहीं है सारे शरीर का उपादान कारण इमानी जो सर्व शरीर उपादान भूतानी सारे शरीर मात्र का जो उपादान कारण है वह पंच पृथ्व्यादि ने महाभूतानी ये महाभूत है छोटे भूत नहीं बहुत बड़े भूत हैं पृथ्व्यादि पंच महाभूत चौरासी लाख योनि जो भी बनना ये भी भूतों से बनना है अन्न अन्नाद लक्षणानी यथानी दो भाग में विभक्त देखते हैं दो भाग में सारा संसार है एक दूसरे को खाता है चूहा अन्नादि को खाएगा बिल्ली चूहा को खाएगी एक दूसरे को खाते खाते भाग बना इसलिए इसका ठीक ठाक चल रहा है इसलिए व्यवस्था ठीक बनी हुई है ज्यादा हो नहीं पाते कम भी नहीं पाते खाते खाते भाव है सब एक दूसरे का मारक बना हुआ है ऐसी तो ये स्थिति है तो अन्न अन्नाद लक्षणानी यथानी भूतानी अन्न अन्नाद लक्षण अन्न और अन्नाद माने अन्न रूप है माने खाद्य रूप है और अन्नाद माने खादक रूप है भक्ष्य और भक्षण रूप में भक्ष्य और भक्षण भक्षक रूप में सारा संसार ऐसा एक दूसरे को खा जाता है ऐसे स्थिति में तभी ये टिका हुआ है नहीं तो एक ही बहुत फैल जाता जो अभी खा रहा है उसको खाने वाला दूसरा है एक के पीछे एक पड़ा हुआ है और सब खाने वाले हैं किसी कोई भी बचता नहीं है एक कवि ने दिखाया है भेको धावती तम च फणे पश्चात सिखी धावती व्याघ्रो धावती के किम विधिवसात व्याधो की तम धावती स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुल काल तिष्ठति पृष्ठतः कचधर के ना नो ज्ञाते एक सायकाल का समय था एक मेढक अपने आहार के लिए बाहर निकला ढेको धावती मच्छर आदि खाने के लिए निकला बाहर निकला मेढक तम च धावती फणी वो मेढक के पीछे सांप पड़ गया मेढक को पता नहीं पीछे मेरा सांप है उसको अपना आहार दिखता आगे मच्छर दिख रहा वो खाने के लिए चल रहा हो उसमें आशा में दौड़ा हुआ है पीछे सांप पड़ा हुआ है देखो धावती तम च धावती फणी उस बेड़क को खाने के लिए सांप पीछे पड़ा हुआ है पश्चात सिखी धावती उस सांप को खाने के लिए मोर पीछे पड़ा हुआ है सिखी के बदले मोर को मोर खा जाता सांप को और व्याधो धावती व्याघ्रो धावती के गिनम विधि के साथ उसके पीछे बाघ पड़ा है वो मोर को खाने के लिए प्रारोध बस ऐसा है व्याघ्रो धावती के किनम के की माने मोर होता है एक ही नाम की तम धावती उसके पीछे व्याधा पड़ा हुआ है लाइन लगी हुई है एक दूसरे के मारक है सबसे आगे मेढक है मेढक के पीछे सांप है हाँ। सांप के पीछे मोर है मोर के पीछे बाघ है बाघ के पीछे ब्यारा है सब मस्त है अपने सामने वाले आहार में मस्त है स्वस्व आहार विहार साधन विदौ सर्वे जना व्याकुला सब लोग अपने अपने आहार और अपना विहार खाना पीना घूमना ऐसे में मस्त है सारे काल तिष्ठति पृष्ठतः कचधरा के ना पिना जाए थे काल केस पकड़ करके बैठा हुआ खड़ग लेके बैठा है पीछे काटने के मारने के लिए सबका खा, खादक बैठा हुआ मुझे किसी को भी पता नहीं वो स्थिति हम लोगों की है हम अपने आहार विहार में मस्त हैं क्या होने वाला है पता नहीं पीछे की तरफ से क्या हो रहा है पता नहीं लगता हमको आगे दिखता है अपने आहार भी आगे दिखता है तो ये कहा अन्न अनाद यता नहीं कहा जो खाद्य खादक भाग में सारा संसार है पंचभूत से बने हुए जितने भी हैं खाद्य खादक भाव है इस तरह इसका व्यवस्था बनी हुई है ये सब के सब जो परमात्मा को कुछ करना नहीं पड़ता ऐसा बन गया वो उसको खा जाता वो उसको खा जाता इसको खाया उसने उसको खाने वाला दूसरा फिर दूसरा अपने आप स्थिति बन जाती है कोई मारने के लिए आने ही नहीं पड़ता काल को कल का व्यवस्था चल रही व्यवस्थित है कुछ नहीं करना पड़ता और भी किंच ईमानी जो क्षुद्र विश्राणी जो क्षुद्र क्षुद्र है क्षुद्र अल्पटय विश्राणी जो अल्प जीव है चीटी आदि जितने भी हैं ये भी सब कोई यही परमात्मा ही है ये प्रज्ञानी कहा इव शब्दों अनर्थक क्षुद्र मिश्राणी इव है ना इव शब्द का अर्थ नहीं है अनर्थक है क्षुद्र मिश्राणी छोटे छोटे जंतु हैं जो सात आठ नौ की टिप्पणी सात में कहते हैं इमानी यदि चकार व्याख्यानम किंच इमानी च में जो तो चकार था मंत्र में चकार था इमानी च उसी के व्याख्यान है किंच च का अर्थ किंच करना आठ में कहा क्षूद्रई माने मशकपि बिगलादि भी कहा रही अल्पकई मिश्राणी ये सब मिले हुए जितने भी हैं मच्छर है चीटी है इत्यादि के द्वारा जितने भी पाए जाते हैं मिश्राणी माने सही कहानी सब के सब छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी संसार में पंचभूत से बने हुए हैं सबका शरीर पंचभूतात्मक है चीटी आपके शरीर जैसे पंचभूतात्मक है चीटी का भी वैसे ही उतने पंचभूत से बनाए हो सबका शरीर पंचभूतात्मक है और एक दूसरे के खाद्य खा रहे कैसा आप जिसको अभी खा रहे हैं आपको खाने वाला कोई है या तो अग्नि खाएगी आगे या मछली खाएगी कोई भी खाएंगे या कीड़े खाएंगे कुछ ना खाने वाले सब साफ खाने वाले और जो आपको खाने वाला होगा उसको खाने वाला भी और कोई होगा ऐसे चलता ऐसी व्यवस्था है खाद्य खाद्य बात में मिश्राणी का अर्थ सहितानी इत्यर्थ क्षुद्राणी अभी सहैव इत्यर्थ मैंने छोटे छोटे जंतु भी परमात्मा ही है वही प्रज्ञानी है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है ये कहा ठीक है सर येष इत्यस अर्थ आह ये सब कहा था ये सब ब्रह्म में ये सब पद का अर्थ करते हैं प्रज्ञान रूप आत्मा ऐसा कहा ये सब पद का अर्थ प्रज्ञान रूप आत्मा जो प्रज्ञान प्रज्ञान स्वरूप आत्मा कहा था कौन होगा आत्मा तो ब्रह्म कहा कौन है अपरम अपर ब्रह्म है यहाँ जैसा आत्मा में आयु आत्मा अपर ब्रह्म है कहा ठीक है प्रज्ञानम ब्रह्म की मुख्य ब्रह्मता आया बक्षमाणत्वाद मुख्य ब्रह्मत्व को आगे कहेंगे प्रज्ञानम ब्रह्म करके जो महावाक्य आगे आने वाला इस मंत्र का अंतिम पद है प्रज्ञानम ब्रह्म तो मुख्य ब्रह्म को तो वहां कहने वाले हैं ये कहा प्रज्ञानम ब्रह्म मुख्य ब्रह्मता आया मुख्य ब्रह्मत्व का तो पक्षमाणत्वाद मुख्य ब्रह्म तो आगे कथित होगा ये मुख्य ब्रह्म नहीं अभी यह सब ब्रह्म क्या हिरण्य का है वो एक ज्ञान अर्थ है यह मूर्ध द्वारा अनुप्रविष्टम समष्टि लिंग शरीर अभिमान हिरण्य गर्भ प्राण प्रज्ञात्मा आदि शब्द ही तत्र तत्र उत्तम अपरम ब्रह्म उच्चते यहां कहा मूर्धा के द्वारा अनुप्रविष्ट जो समष्टि लिंग शरीर अभिमानी है मूर्धा के द्वारा प्रविष्ट हुआ है वो समष्ट लिंगाभिमानी हिरण्य गर्भ प्राण प्रज्ञात्मा आदि शब्द कहीं प्राण कहा है उसको कहीं प्रज्ञात्मा कहा उन उन स्थानों में उपनिषद में ऐसे पाया जाता है हिरण्य गर्भ का नाम कहीं प्राण बोलते हैं कहीं प्रज्ञात्मा बोलते हैं क्यों ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों से युक्त है वो क्रिया शक्ति को लेकर के प्राण बोल देते हैं और ज्ञान शक्ति को लेकर प्रज्ञात्मा बोल देते हैं उसका भी नाम हिरण्य गर्भ का नाम दो का पुंज है वो क्योंकि हमारे भीतर में जो अंतकर्म में दो दो भाव है कुछ जानने वाले हैं कुछ करने वाले हैं पांच कर्मेंद्रिया प्राण काम करने वाले हैं और पांच ज्ञान इंद्रिया और मन बुद्धि आदि जानने वाले हैं वो कर नहीं सकते जानते हैं और जो करने वाले हैं वो जानते नहीं है करते हैं दो प्रकार के इंद्रिया हमारे पास है तो वो दोनों का पुंज होने से कहीं प्राण बोला कहीं प्रज्ञात्मा बोला हिरण्य का भी कहा <clears throat> प्राण प्रज्ञात्मा आदि शब्द ही तत्र तत्र उत्तम उन्होंने स्थान में कहा है इनको कहीं प्राण शब्द से कहा है कहीं प्रज्ञात्मा शब्द कहा हिरण्य कहा ऐसे कहा है उत्तम अपरम ब्रह्म उच्चते या आत्मा शब्द से अपर ब्रह्म लिया जाएगा कहा जाएगा ये कहा अपरम बोला है भाष्य में ब्रह्म माने अपरम सर्व सर्वशरीरस्थ प्राण प्रज्ञान सारे शरीर में स्थित जो प्राण है प्रज्ञात्मा है इत्यादि आगे अंतकरण उपाधि से अनुप्रविष्टो अंतकरण उपाधि में प्रविष्ट हुआ जो है वही है जल भेदगत सूर्य प्रतिबिंब हिरण्य गर्भ प्राण प्रज्ञात्मा का जैसे जल विशेष में पड़ने वाला सूर्य का प्रतिबिंब होता है सारे जल में प्रतिबिंब नहीं पड़ता गंदा जल में नहीं पड़ेगा विशेष जल में पड़ेगा प्रतिबिंब स्वच्छ जल में पड़ता है सूर्य का प्रतिबिंब इसलिए जल भेद का जल विशेष में पड़ने वाला प्रतिबिंब के समान हिरण्य गर्भ यह प्राण है प्रज्ञात्मा ये प्राणी है कहा ठीक है कहते हैं सर्व शरीर इतिहाना समष्टि थूल शरीरम उच्चते यहाँ सर्व शरीर शब्द भाष्य में दिया है इससे क्या लेना है तो समष्टि थूल शरीर को लेना सारे स्थूल शरीर में प्रविष्ट अंतकरण उपाधिशु इति अनेना भी या अंतकरण उपाधिशु भी है भाष्य में उसे क्या है इसके द्वारा भी समस्त लिंग शरीर में होता समस्त सूक्ष्म शरीर में वही है समस्त लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में वही है कहा आद्याभ्याम प्राण प्रज्ञात्म शब्दाभ्याम क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति मत मुक्त या इस भाष्य पंक्ति में दो बार प्राण प्रज्ञात्मा प्राण प्रज्ञात्मा आया है इस पंक्ति में इस वाक्य में पूर्व पंक्ति में भी है द्वितीय पंक्ति में भी प्राण प्रज्ञात्मा शब्द पहले वाला जो प्राण और प्रज्ञात्मा शब्द से क्या लेना है कहते हैं आद्याभ्याम पहले वाला जो प्राण प्रज्ञात्मा शब्दाभ्याम प्रथम पंक्ति में जो प्राण प्रज्ञात्मा शब्द है उसके द्वारा क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति मतलब तो दो शक्ति वाला लेना है क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति दो शक्ति को लेना है द्वितीयाभ्याम और द्वितीय जो प्राण प्रज्ञात्मा शब्द द्वितीय पंक्ति में आए आए हैं इसके द्वारा क्या लेना है तत्र तथा दृष्ट वहां वहां कहीं प्राण से कहा कहीं प्रज्ञात्मा से कहा है उन स्थानों में उपनिषदों में तत्र तत्र तथा निर्दिष्ट प्राण शब्द से और प्रज्ञात्मा शब्द से निर्दिष्ट हिरण्य गर्भ ये कहा उसको लेना है इति उच्चते इति अपनुरूप्तम इसलिए भाष्य की पंक्ति में पुनरुक्ति नहीं दोबारा आया है प्राण प्रज्ञात्मा शब्द पुनरुक्ति नहीं होगी पहले वाले शब्द लिया है क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति वाला और दूसरे से लिया है उन्होंने स्थान में प्राण और प्रज्ञा प्रसन्न से कहा हुआ को लिया गया इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं देता भाष्य में ये कहा टिप्पणी चार की तत्र तत्र श्रुति श्रुति वाक्य तत्र तो उन्होंने श्रुति वाक्यों में है कहीं प्राण शब्द से कहा है कहीं प्रज्ञापन शब्द से कहा हिरण्य गर्भ उन्होंने स्थानों में ऐसा अच्छा <clears throat> नो उक्त प्रज्ञात प्रज्ञान प्रज्ञान आत्मा एवं अपरम ब्रह्म इत्यतः किम प्रमाण ये जो कहा गया प्रज्ञान आत्मा पूर्व में जो प्रज्ञान आत्मा कहा था तो वो अपर ब्रह्म है इसमें क्या प्रमाण है पर ब्रह्म क्यों नहीं लिया जाए मुख्य ब्रह्म क्यों नहीं लिया जाए यहां प्रज्ञान आत्मा का शब्द ये पूर्वादी के साथ उक्त प्रज्ञान आत्मा पूर्वोक्त जो प्रज्ञान आत्मा है एवं यही अपरम ब्रह्म इतना किम प्रमाण अपर ब्रह्म इसमें क्या प्रमाण है हिरण्य गर्भ कहना क्या प्रमाण है इसमें इति आशंका ऐसी शंका करके उत्तर देंगे पांच नंबर टिप्पणी प्रयोग होती है शोधिता जो उक्त है शोधित जो प्रज्ञात्मा है वो अपर ब्रह्म है शोधित तो ब्रह्म होना चाहिए अपर ब्रह्म कैसे किस किस प्रमाण से कहा ये कहा उक्त प्रज्ञात्मा प्रज्ञान आत्मा है तो अपरम ब्रह्म किम प्रमाण आशंक्य प्रवेश वाक्यम प्रमाण प्रवेश कहा है परमात्मा मुख्य परमात्मा प्रवेश नहीं करेगा विशिष्ट ही प्रमाण प्रवेश करेगा बस सावय होकर के प्रवेश कर निर्वय कैसे प्रवेश करेगा ये प्रवेश वाक्य प्रमाण है कहा प्रवेश वाक्यम प्रमाणम इति भक्तम प्रवेश वाक्य ही प्रमाण है अपर ब्रह्म करके भक्तम हम्म। ये इंद्रित वाक्य की व्याचस्ते ये इंद्रित वाक्य की व्याख्या करते कहा छह नंबर की टिप्पणी प्रवेश वाक्यम प्रमाणम कहा तो प्रवेश वाक्य में क्या कहा एक ग्रहण करना होगा प्रमाण रूप से मूर्ध विधारण पूर्व पुरुष निर्भय आत्मा जो होगा निर्विशेष आत्मा मूर्धा को विदारण भी नहीं कर सकता स एतम एवं सीमान विदार्य एतया द्वारा प्राप्त कहा है इस सीमा को विदारण करके भेदन करके फाड़ करके इसके द्वारा प्राप्त हुआ कहा तो निर्विशेष भी होना संभव नहीं सविशेष है इसलिए अपर ब्रह्म है एक कहा टिप्पणी का कह रहे हैं प्रवेश वाक्य प्रमाण इसलिए हुआ है मूर्ध विदारण पूर्वक प्रवेश प्रतिपादकम ये वाक्य है मूर्धा का विदारण पूर्वक प्रवेश कहा इसलिए अपर ब्रह्म ही है वो ये प्रज्ञानात्म शब्द के द्वारा ये कहा तो आगे कहा ऐसा इंद्र इत्यादि वाक्य व्याचष्ट कहा ऐसा इंद्र इत्यादि वाक्य की व्याख्या करने कहा ऐसा एव इंद्र गुणात देवराज कहा था गुण था योग होने से यही है इंद्र क्या गुण होगा तो बताते हैं आगे क्या गुण है तो कहते हैं इदम अदर्शम इति श्रुति तो गुण होगा इदम अदर्शम कहा इसको मैंने देखा ऐसा आया बात के सूर्य माने अपवाद काल में स एतम एक पुरुषम ब्रह्मतम अपश्यत इदम अदर्शम इति ऐसा आया था तो इदम अदर्शम ऐसा था वहां तो इसलिए इदंद्र होना था इंद्र शब्द से कहा यही कहा था इदम अदर्शम यदि श्रुति उक्त श्रुति में कहा यह गुण योगा जो गुण का योग है यही गुण का योग है इसलिए अपर ब्रह्म है कहा देवराज इंद्र है यही इंद्र है कहा अच्छा। सात की टिप्पणी में कहा ईश्वर वृत्ति सर्व विषय का अपरोक्ष ज्ञानवत्व गुण से हृदय गर्भ संबंध ईश्वर में रहने वाला जो सर्व विषय वृत्ति है ईश्वर वृत्ति जो सर्व विषय अपरोक्ष ज्ञान है वो हृदय गर्भ है इदम आदर्शम ये जो कहा इसको मैंने देखा ऐसा कहा सबको देखा उसने ये आया कि तो ईश्वर की वृत्ति जो सर्व विषय अप्रोक्ष ज्ञान था वो गर्भ तो इसमें आया इसमें गर्भ में गुण दिखाई पड़ा एक गुण के कारण से बोला अथवा देवराज इंद्र है ऐसा बताया आगे टीका में कहते हैं प्रवेश वाक्य प्रविष्ट से इंद्रत्व अभिधानार्थ प्रवेश वाक्य में जो प्रविष्ट को इंद्र कहा ऐसा इंद्र इत्यादि कहा है प्रवेश वाक्य में इदांतर शब्द से इंद्र शब्द से कहा था जो प्रविष्ट हुआ ये इंद्र को देखा बोला था प्रवेश वाक्य में इंद्र शब्द का कथन होने से प्रवेश वाक्य प्रविष्ट से जो प्रवेश वाक्य में जो प्रविष्ट हुआ वस्तु है उसको इंद्रत्व अभिधान इंद्रत्व का कथन होने से हिरण्य गर्भ से अभी इंद्रत्व तऊ हाँ, हिरण्य गर्भ को इंद्र कहने में प्रविष्टत्व प्रतिविज्ञान प्रविष्टत्व का प्रतिविज्ञा तत्ता इदंता तो हो रही जो प्रवेश हुआ वो हिरण्य गर्भ है वो इंद्र शब्द से उसी कहा है प्रतिविज्ञा वही जो इंद्र कहा था वही हिरण्य गर्भ है प्रतिविज्ञा होने से प्रष्टुरेव प्रविष्ट सर्वरूपत्व जो प्रविष्टा है उसी का ही प्रविष्ट सर्वरूप वही है प्रविष्टा से अतिरिक्त रूप कोई नहीं होने से अवेद सिद्ध भाव इसलिए अवेद सिद्ध हो जाएगा सबका प्रविष्टा के साथ आठ की टिप्पणी में कहा हिरण्यगर्भ प्रविष्टु माने हिरण्यगर्भ से जो हिरण्यगर्भ है उसी का सर्वरूप होने के कारण से अवेद सिद्ध हो जाएगा ये कहा न तो पारमेश्वर गुण योगा प्रज्ञानात्मा इंद्र परमेश्वर इत्यर्थ या परमेश्वरी गुण के कारण नहीं है यहां तो प्रवेश गुण के कारण से इधम अदर्शम ये गुण के कारण से इंद्र कहा और परमेश्वरी गुण के कारण परमेश्वर को इंद्र ने कहा परमात्मा का नाम ही इंद्र है किंतु ये इंद्र का अर्थ इंद्र निगर रही है परमेश्वरी गुण को लेकर के इंद्र ने कहा प्रज्ञानात्मा कहा परमेश्वर से अवेद से प्रज्ञानात्मा परमेश्वर से अवेद है वो मैंने हिरण्य गर्भ परमेश्वर से ही है विशिष्टम शुद्धान रिचित ऐसे कहा गया है जो विशिष्ट होता है शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता है कुंडली देवदत्ता माने कुंडल पहना हुआ देवदत्ता और बिना कुंडल का देवदत्ता दो में भेद है कि अभेद है एक एक देवदत्ता है कभी कुंडल पहन लिया हाँ तो कुंडल पहनने के बाद वो पहली वाला देवदत्ता से भिन्न होता है वही होता है वही होता है विशिष्टम शुद्धान नातिरिक्त जो विशिष्ट होता है शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता ऐसा नहीं है नैयायिक बोलते ऐसा वैसे यहां भी प्रज्ञानात्मना परमेश्वर अभेद से प्रज्ञानम ब्रह्म इति प्रज्ञात्मा को परमेश्वर से अभेद करके अभेद प्रज्ञात्मा को प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य ने कहा मैंने परमात्मा से अभिन्न मान करके प्रज्ञानम ब्रह्म बोला इसको प्रज्ञानात्मा को हिरण्य कर दो आनंद बक्ष बक्ष महात्मा प्रज्ञान प्रज्ञानात्मा को परमेश्वर से अवैध करके प्रज्ञानम ब्रह्म आगे कहेंगे मुख्य को इसको यही बोलेंगे प्रज्ञानम ब्रह्म बोलेंगे जहां प्रज्ञान प्रज्ञान कहा आगे ब्रह्म के साथ अभी करेंगे उसको इसलिए पक्षमाणत्व परमेश्वरत्व गुणवत्व प्रतिपादन से परमेश्वरत्व भी इसका कथन आ गया एक गुण और दूसरा गुण गुणवान का भी कथन हो गया परमेश्वर गुण का कथन होने से प्रकरण विरोधा तो प्रकरण विरोधा प्रकरण विरोध होता है इसलिए यहां पर प्रज्ञान पाना लेकर के हिरण्य गर्भ लेना होगा कहा प्रकरण विरोधा नौ टिप्पणी का निर्गुण से प्रकरण प्राकरण का प्राप्त निर्गुण का प्रकरण है आगे ले जाके निर्गुण में सिद्ध करना है न तो हिरण्य गर्भादि आत्मत्व आत्मत्वत माया विशिष्ट परमेश्वरात्मत्व अनैन उच्चते जैसे यहां हिरण्य गर्भ लेना हो अथवा माया विशिष्ट को ईश्वर को ले लो हम्म। ये प्रज्ञान स्नान रेयान प्रज्ञान सब माया ईश्वर को ले लो ऐसा कहे ऐसा नहीं हो सकता न चाहते हिरण्य गर्भादि आत्मत्वत जैसे हिरण्य गर्भ स्वरूप लेना है या ये सब ब्रह्म ये इंद्रादि के द्वारा उसी प्रकार माया जिसने जो परमेश्वर आत्मा है उसको लो ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्यों तथा सती भाष्योक्त गुणादि गुणादि हेतु अनन्वया भाष्यकार ने जो गुणात बोला हुआ है ये सब एवं इंद्र गुणात उसका अन्वय नहीं होता गौण रूप नहीं आएगा मुख्य हो जाएगा वहां ये कहा तथा सती भाष्योक्त गुणाद इति हेतु हेत्व अनन्वया तकार छूटा हुआ हेत्व अनन्वया हेतु अनन्वया हेतु का संबंध नहीं हो रहा ये सब ब्रह्मा ये सब प्रजापति की पूर्वोत्तर पर्याय शिव जैसे पूर्व में ये सब ब्रह्म कहा है आगे ये सब प्रजापति आएगा तो हिरण्यगर्भ और विराट के बीच में ये सब इंद्रपद आया हुआ है पहले आया ऐसा ब्रह्म से अपर ब्रह्म लिया हिरण गर्भ लिया आगे ऐसा प्रजापति विराट को बोलेंगे और बीच में आया हुआ ऐसा इंद्र पूर्वोत्तर लेकर के बोलते हैं ये सब ब्रह्म ये सब प्रजापति पूर्वोत्तर पर्याय जैसे पूर्व में है ये सब ब्रह्म पद उत्तर पर्याय में है ये सब प्रजापति तो बीच में आया हुआ है ऐसा इंद्र उसी प्रकार ये गुण योग अभावी भी गुण का योग न होने पर भी उपपत्ति उसकी सिद्धि हो जाएगी हिरण्य गर्भ की कहा दस ग्यारह की टिप्पणी है दस में कहते हैं अनन्वयात विवक्षित तुम पद लक्ष्यार्थ है अनन्वया विवक्षित जो तुम पद का लक्ष्यार्थ होगा उसको अन्वय नहीं होगा अनन्वया ये तो परमेश्वर गुण से क्योंकि परमेश्वर गुण का अन्वय नहीं होगा यहाँ अनन्वय अनन्वया माने असंभवाद इत्यर्थ संबंध नहीं हो पाएगा पार्वेश्वर गुण इसमें नहीं आएगा लक्ष्य से का लक्ष्य हमारा होगा निर्धर्मक होगा ये धर्म नहीं जाएगा इसलिए धर्म सहित बोला हुआ गुण का योग है यहाँ मुर्दा आदि भेदन करके आया हुआ कहा इसलिए हिरण्य गर्भ ही लेना होगा ये सही के द्वारा कहा उपपत्ति में प्रज्ञानात्मा परमेश्वरता प्रज्ञाना में परमेश्वरता सिद्ध हो जाएगा ये कहा उपपत्ति हो जाता गुण का योग का अभाव में परमात्मा हो जाता गुण का योग न होता तो परमात्मा हो जाता हो या गुण का योग है इसलिए मुख्य परमात्मा नहीं इसलिए इंद्र शब्द का भी हिरण्य गर्भ है अश व्याख्यान से क्लिष्टत्व मनसी आया अर्थात ये जो व्याख्या की गई बल्कि कठिन नई व्याख्या है ऐसा इंद्र पद का अर्थ खींचातान करके हिरण्य को बनाया तो सरल व्याख्या करना चाहते हैं अश्य व्याख्यान से क्लिष्टत्व मनसी निराया इस व्याख्या को कठिनता मन में धारण करके विषयांतर कहते हैं देवराज होगा देवराज इंद्र है ऐसा इंद्र का यही है देवराज इंद्र भी यही ब्रह्म ही है अपर ब्रह्म ही है ये बोलना तो सरल हो जाएगा कहा बारह नंबर के पद कहा कृष्णत्म अक्षर स्वारस्य अप्रतिमान जैसा शब्द आया भाष्य में उसे प्रतिमान अर्थ नहीं आता है ये तो दानी करके अर्थ निकाला गया ऐसा इसे कहा देवराज बोला ठीक हम कहते हैं प्रजापति हिरण्यगर्भात भेद महा प्रजापति जो है हिरण्यगर्भ से भेद है भिन्न है इसमें कहते हैं यह प्रथमज इत्यादि बोला यह प्रथमज प्रथम शरीर ही इत्यादि कहा था जो विराट ये प्रजापति है विराट ठूल शरीराभिमानी स लिंग शरीराभिमानी अयम तो ठूल शरीराभिमानी हिरण्य गर्भ जो है स मन हिरण्य गर्भ सूक्ष्माभिमानी है और ये जो प्रजापति जो है ठूलाभिमानी है स लिंग शरीराभिमानी वो जो हिरण्य गर्भ लिंग शरीर का अभिमान है सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है और अयम तो अयम माने जो प्रजापति है ये तो थूल शरीर अभिमानी इसी भेद दो में भेद है इसलिए या अलग बोला प्रजापति अलग बोला ये सब ब्रह्म अलग बोला आगे तत्र अद्वय एव पुरुषम समुद्रित्य अमूर्छयम मुखम निर्वृत्त इत्यादि वाक्य प्रमाण तत्र मैंने विराट में क्या प्रमाण है प्रजापति के लिए क्या प्रमाण है विराट में क्या विराट है करके क्या प्रमाण है कहते हैं वो परमात्मा ने क्या किया जल से एक मनुष्य एक शरीर निकाला कहा था जल से एक शरीर निकाला उससे आगे मुख को निकाल दिया गया माने इंद्रिय गोलक बना दिया फिर इंद्रियों को बना दिया फिर अधिष्ठात्री देवता बनाया ऐसा आया था फिर भूख प्यास से युक्त कर दिया सब बातें आई थी एक तत्र माने विराट के विषय में हिरण्यगर्भ के विषय में ठीक है प्रजापति के विषय में अध्याय एवं पुरुषम समुद्रित अमूर्थ मुखम निर्देश इत्यादि मंत्र आया था जल से ही माने जल प्रधान पंचभूतों से ही एक आकार निकाल करके क्या किया उसको संपीड़ित कर दिया अवैव से युक्त कर दिया हाथ पैर आदि से युक्त कर दिया और वहां मुख बना दिया नासिका बनाई इत्यादि इत्यादि वाक्य प्रमाण वो प्रजापति है ये वाक्य सब प्रमाण है ये कहा तत्र में तेरह की टिप्पणी तत्र प्रजापति स्थूलाभिमान थे तो प्रजापति है विराट है स्थूल का अभिमान है इसमें ये वाक्य प्रमाण है बताया आगे यत भाष्य में कहा ये तो मुखाद्य निवेद इत्यादि बता दिया आगे बोलते हैं देव ग्रहण मनुष्यादि नाम उपलक्षण आगे कहा था सर्वे देवा एते सर्वे देवा मंत्र में ऐसा था तो भाष्य आदि में बोला था ये भी ये थे अग्नियादय सर्वे देवा ये सर्वे अग्नियादि सारे देव भी यही है तो देवता का अर्थ देवता मात्र नहीं लेना है मनुष्य आदि भी इसी यही है ये मानना है देखा देवकरण मनुष्य आदि ना भूभक्षणम तथा तो सर्वे जीवात्मा है ये सर्वे आता है खाली देव मात्र जितने भी जीवात्मा है सब यही है एक अपर ब्रह्म है कहा एवं ये सब ब्रह्म इत्यादि वाक्यु ऐक्य सामान अधिकरण देखो सामान अधिकरण चार प्रकार का होता है बारह अध्यास विशेषण विशेष्य ऐक्य चार होता है चार में से ये मुख्य सामानाधिकरण है ये सब ब्रह्मादि अभेद करना बाध नहीं माने देवादि को बाध करके माने ब्रह्म सिद्ध करना नहीं है जो देवादि और ब्रह्म में अभेद करना है एक बनाना है वार्तिक सार में जो तत्वमसी आदि छांदो के आदि में तत्वमसी ये महावाक्य है चार महावाक्य तत्वमसी आदि महात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म यहाँ आने वाला है इसका अर्थ पंचदशी कार ने वार्तिक सार में बताया है वाक्याध्यास विशेष ऐक्य विषय नाम चतुर्धा मतम सामनाकरण्य माध्य विहना व्यर्थोद्यमाश्या ध्यानाद्य श्रवणात् अनित्य फलता फलता दोषाच नाध्यास भी तादात्म न विरुद्धयोदिति बलात् वस्तैक प्रक्षिप्त ये महावाक्यों में ऐक्य सिद्ध है बाद समानाधिकार में जीवत्व को बाध करके ब्रह्मत्व का विधान नहीं है नहीं तो क्या होगा श्रुति का प्रयास व्यर्थ हो जाएगी इसी को ब्रह्म घोषित करना है न कि इसको यह नहीं है करके खत्म कर देना इसको मार देना ऐसे श्रुति का अभिप्राय नहीं होगा इसकी उपाधि हटा करके ब्रह्म भाव में दिखाना श्रुति का काम है बाधाध्यास विशेषणैक्य विषय नाम न चतुर्धा मतम सामानाधिकरण सामानाधिकरण चार प्रकार के हैं बाध अध्यास विशेषण विशेष भाव ऐक्य चार प्रकार सामानाधिकरण माध्यम आद्य है बाध यह ना ये महावाक्यों में बाद वाला समानाधिकरण नहीं होगा क्यों व्यर्थोद्यमाश्यात श्रुति यदि बाद मानेंगे तो श्रुति का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा श्रुति ये न के प्रकार ने इसको ब्रह्म घोषित करना चाहती है न कि इसको बाद कर देना चौरा स्थान जैसा नहीं रात्रि में चोर दिखाई पड़ा ठूंठ को चोर समझा था उजाला हो गया तो बाध करता है चोर को बाध करके एक बुद्धि बचाता है चोर बुद्धि को बाध करके ठूठ बुद्धि बचाता है चौरा स्थान तो चोर देखा मैंने चोर नहीं ये ठूठ है ऐक्य चोर और इसका एकता नहीं है चोर बद गया बाध हो गया ऐसा यहां नहीं जीवत्व को बाध करके जीव बाध करके ब्रह्म बनाना तात्पर्य नहीं है इसी को शुद्ध करके ब्रह्म घोषित करना तात्पर्य है ऐसा बाधाध्यास विशेषण विषय नाम चतुर्धा मतम सामानाधिकरण चार प्रकार के सामानाधिकरण बाद अध्यास विशेषण विशेष बाद ऐक्य आद्य ना ये महावाक्यों में पहला वाला बाद वाला हो नहीं सकता व्यर्थोत्यमाशा श्रुति बाद करेंगे तो ये इसको तो मोक्ष मिलना नहीं है ये तो मर जाना है बाद हो जाना है साधन सारा ये कर रहा है फल कुछ नहीं मिल रहा है स्थिति ऐसी आ जाएगी बाद करेंगे तो जैसे सौर स्थान जैसा नहीं है व्यर्थोद्यमाश्चात श्रुति श्रुति का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा तो तत्वसी आदि श्रुति का प्रयास व्यर्थ होगा इसलिए बाप कर्म नहीं कर सकते हैं माँ और ध्यानादि अश्रवणा उपासना भी नहीं सुनाई पड़ा है यहाँ तत्वसी तो आदि में ध्यान माने उपासना ध्यानादि ध्यानाद्य श्रवणात् अनित्य फलात् अगर उपासना के लिए बोला हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म तो नहीं है हम में बोलेगा तो फल मिलेगा जैसे मनो ब्रह्म उपासित मन को ब्रह्म मान की उपासना करे फल मिलेगा मन ब्रह्म नहीं है इस प्रकार ये कभी ब्रह्म नहीं होगा मैं ब्रह्म हो करके उपासना करेगा तो फल मिलेगा इसके लिए हो महावाक्य ध्यानाध्या श्रवणार्थ अनित्य फलता दोषात अनाध्यास भी अध्यास बुद्धि भी नहीं है अध्यास समानाधिकार भी नहीं है ऐसा भी नहीं अध्यास नहीं मनोब्रह्म उपासित जैसा भी नहीं है मैंने केवल फल के लिए अन्य में अन्य बुद्धि करना मन ब्रह्म नहीं ये सभी जानते हैं फिर मन को ब्रह्म मान की उपासना करेगा फल मिलेगा ऐसा भी नहीं है जीव ब्रह्म कभी भी नहीं है किंतु जीव को ब्रह्म मान करके चिंतन करेंगे तो फल मिलेगा हाँ। ऐसा भी नहीं हो सकता क्यों ध्यान आदि उपासना नहीं इन प्रकरणों में उपासना है जहां जहां महावाक्य प्रकरण आए हैं चाहे तत्वशी छांदोग्य हो चाहे वह प्रज्ञान ब्रह्म यह आने वाला है चाहे अहिमात्मा ब्रह्म मांडुक्य में हो चाहे अहम ब्रह्माष्टमी वृद्धारण्य में हो उपासना के प्रकरण नहीं वहां ध्यान आदि असर्वणात्मन उपासना के प्रकरण न होने से अनित्य फलादा और उपासना का फल होगा तो अनित्य भी होगा स्थायी फल मिलेगा नहीं अनित्य फलता दोषा अनित्य फल रूपी दोष के कारण भी न अभी इसलिए उपासना बुद्धि नहीं है यहाँ हम ब्रह्मास्म आदि में और तादात्म्यम न विरुद्ध हो विशेषण विशेष भाव विरुद्ध में नहीं हो सकता ये अल्पज्ञ है वो सर्वज्ञ है कहां से एकता होगी हम ब्रह्मास्म कैसे बोलेगा अगर विशेषण विशेष भाव करना चाहेंगे संभव नहीं होगा क्यों विरुद्ध में तादात्म्य नहीं होता है और स्वर्गो का ऐक्य नहीं होता कभी भी अश्व और महेश का नहीं होता तादात्म्य जो विरुद्ध है तादात्म न विरुद्ध हो इति पलात्म तीनों प्रकार से नहीं हो पाया तादात्म में विशेषण विशेषभाव भी नहीं है अध्यास भी नहीं है और बाद भी नहीं है तो एक बच गया चार प्रकार के समानाधिकरण होते हैं एक बचा क्या बचा ऐक्य वाला वस्तुक्य पक्ष स्थिति जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र बोलते हैं चंद्र के प्रकाश पुंज को चंद्र बोलते हैं प्रकाश और चंद्र में भेद नहीं है अभेद है वैसे जीव ब्रह्म में अभेद है तो हम भागते लक्षण करेंगे जब उपाधि को हटाएंगे यहां की उपाधि हटाएंगे वहां की उपाधि हटाएंगे तो शुद्ध में ऐक्य हो जाएगा शुद्ध में भेद नहीं है दो नहीं एक ही है ये वास्तविक पक्ष स्थिति ऐसा वार्तिक सार ने कहा है विद्यार्थ सामने यह संकेत कर रहे एवं ये सब ब्रह्म ये सब और ब्रह्म में समानाधिकार दिख रहा है यही ब्रह्म है ये कहा हुआ है तो कौन से समानाधिकरण होगा समान विभक्ति है तो समानाधिकरण है तो कौन से समानाधिकरण का ये सब ब्रह्म इत्यादि वाक्यशु ऐक्य समानाधिकरण तो ऐक्य वाला दिया बाद वाला नहीं अध्यास वाला नहीं और विशेषण विशेषवाद भी नहीं चार प्रकार के समानाधिकरण होता है माने महावाक्यों में जहां भी आता है ऐक्य वाला है जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र बोलते हैं माने प्रकाश पुंज ही चंद्र है प्रकाश अलग चंद्र अलग नहीं ऐसा नहीं है नीलोत्पल में विशेषण विशेष भाव होता है विरोध दिखता है वहां अविरोध करने के नील का अर्थ नीलवत लक्षणा कर देते हैं नील वाला जो नील वाला होगा वही उत्पल वाला ऐसा अर्थ करते हैं है तो नील और उत्पल का एकता होनी संभव नहीं नील गुण है उत्पल गुणी है कहां से एकता होगी तो नील का अर्थ नीलवत करते हैं लक्षणा करते हैं नील वाला जो नील वाला है वही उत्पल है ऐसा तो कहते हैं यहां एवं ये सब ब्रह्म इत्यादि वाक्य सु जो ये सब ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य है ये सब ब्रह्म ऐसे इंद्र ऐसे प्रजापति में ऐक्य अधिकार है ब्रह्म और इंद्र ये समय और ब्रह्म भेद नहीं है अब एक है ये सब ब्रह्म इत्यादि वाक्य आया इसमें इन वाक्यों में ऐक्य समानाधिकरण गृहित हुआ ऐक्य वाला समानाधिकरण लिया है माने बाद वाला नहीं ये सब को बाद देना ब्रह्म को बचाना ऐसा नहीं है और अध्यास भी नहीं है फल फल के लिए उपासना के लिए हो ये सब ब्रह्म बोलना ये ब्रह्म नहीं कहते तो ब्रह्म बोल दिया फल के लिए फल के लिए होता है कभी कभी छोटे को बड़े बोल देने से फल मिल जाता है चपरासी बैठा होगा गेट में बाबूजी कह देंगे तो गेट खोल देगा भीतर जाने दे देगा फल मिल जाएगा बड़े से मिलने मिल जाता है तो पटवारी बैठा होगा चपरासी होगा राजा बोल देंगे मंत्री जी बोल देंगे आपको रास्ता दे देगा बड़े को छोटा बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा छोटे को बड़ा बोल देने से फल मिलता है इसके लिए भी ही होती है ऐसा भी नहीं है अध्यास में नहीं है विशेषण विशेष भाव हो ही नहीं सकता यहां इसलिए कहा ऐक्य समान अधिकार लेना चार में से ऐक्य लेना बाद अध्यास विशेषण विशेष भाव और ऐक्य चार प्रकार के समानाधिकार होता है तो उसमें ऐक्य वाला पक्ष लेना महावाक्यों में ऐसा है विद्यारंभ स्वामी ने वार्तिक सार में लिखा है अच्छा, ऐक्य सामान्यकरण भूतवा सर्वभूतस्थ से आत्मा एकत्व तो होता सारे भूतों में स्थित आत्मा एक ही है जो भी देखते हैं आत्मा ही है ऐसा समाधान ऐक्य कर देना आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है एक ही वस्तु है जो ये दिख रहा है आत्मा ही है जो घट दिखता है मिट्टी ही है मिट्टी और घट में भेद नहीं अभेद है जो पट दिखता है धागा ही तंतु ही है ये तंतु और पट में कोई अंतर नहीं ऐसा ऐक्य करना सारे में ऐक्य करना क्यों कारण रूप में है ये विवर्त रूप में है पट विवर्त है तंतु उपादान कारण है विवर्त उपादान है वो तो अवैध होता है मृत घटह बोलते हैं घटह मृत घट जो है वृत्ति ही है वैसे जगत जब आत्मा भाई इतमग्र एक आशित ऐसा था कुछ भी नहीं था आत्मा ही था नान्य व्यंजन अनुषद था तो ये जब आया है ये विवर्त है जो भी अभी दिखता है विवर्त है सब ईमान लोग अस्थिरता आई है साधन कुछ भी नहीं था वो एक ही व्यक्ति था साधन के बिना यहाँ कुछ काम होता नहीं है तो साधन के बिना जो हो जाता है वो विवर्त होता है तो साधन के साथ होगा वो परिणाम होगा परिणाम नहीं विवर्त है तो विवर्त होने के कारण वही है उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं जैसे वृद्ध घट समानाधिकरण कर देते हैं वहां पर ऐक्य समानाधिकरण है मिट्टी में और घट में बाघ भी नहीं है कुछ भी नहीं एक ही है ऐसी दृष्टि है ऐसे करना यहां भी कहा एवं ये सब ब्रह्म इत्यादि वाक्यु ऐक्य सामान सर्वभूत